लोचन बहुरी के प्रभु प्रभुवस बनी बनावा सो नयन गोचर नित नेति कहि श्रुति गावहि जिति पवन मन गो निरस कर मुनि ध्यान कबहुक कपावही मुह जान अति अभिमान बस प्रभु कहु राखु शरीर अस कवन सठ हठ काट सुर तरु बारी करही रही वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं हे प्रभु ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों के विषयों के रस से सर्वथा निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं आपने मुझे अत्यंत अभिमान जान जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काट कर उससे बबूर के बाढ़ लगावेगा अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा नाथ कर करुणा देहु जो बर वर जो जो निजन्म कर्म बसतः रामपदयनुराग यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु जिये गही बाह सुर नर नाहयापन दास अंगद कीजिए हे नाथ अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम जी आपके चरणों में मेरा प्रेम करूँ हे कल्याण प्रद प्रभो यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान हैं इसे स्वीकार कीजिए और हे देवता और मनुष्यों के नाथ बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए राम चरण दृढ़ प्रीत करे बाल के तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठ ते गिरतन जान नाग श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने राम बलि निज धाम पठावा लोग सब लोग नगर लोग सब व्याकुल धावा नाना विधि विलाप तारा छूटे के सन देह सभारा तारा विकल वल रघुराया दीन ज्ञान हरि लीलि माया क्षितिजल जल पावक गगन समीरा पञ्चरचितयति अधम शरीरा श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली उन्होंने कहा पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन पांच तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है प्रगट सुतनु तब आगे सोवा जीवने के लगे तुम रोवा उपजा ज्ञान चरण तबलागी लीन सि परम भगति उमा उमादारु जो शित के सब ही नचावत राम गुसाई तब सुग्रीव ही आय सुदीन मृतक कर्म विधि वत सब वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है फिर तुम किसके लिए रो रही हो जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया शिव जी कहते हैं हे उमा स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया राम राम कहा जही समझाए राज देहुसु ग्रीवहि जाय रघुपति चरण नाय कर माथा चले सकल प्रे ऋत रघुनाथा लक्ष्मण तुरत बुलाए उर्जन वे प्रसमाज राजुदीन सुग्रीव कह अंगद कह जुबराज तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझा कर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज दे दो श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगर निवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दे दिया उमा राम सम हित जग माही गुरु पे तुमा तो बंधु प्रभु नाहे मुनि सब स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति कुल राति बहु बहु बहुव्रणचि ताजर छाते सोई सुग्रीव खिन्ह कपिराओ अति कृपाल रघु वीर सुभाओ हे पार्वती जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है देवता मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया थी रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है